ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है शॉर्टवेव 25 मीटर बैंड में ग्यारह हजार नौ सौ पांच तहत और श्रीलंका में एक सौ सात दशमलव तीन एफएम पर लिखते हैं अमीन भाई मैं अपनी कार चलाते हुए एक रोज ठाणे जा रहा था कार की डेक पर आपकी गीत माला की छाव में मैं सुनकर मजे ले रहा था और पुरानी यादों में खो रहा था कि अचानक ध्यान चूका और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो प्लीज अमीन भाई आप अनाउंस कीजिएगा कि गाड़ी चलाते हुए कोई भी कभी भी ना सुने अरे अरे अरे <laughs> रविंद्र सिंदरकर साहब ये, ये फिल्म घूंघट ही वो पहली फिल्म थी बहनों भाइयों जो मुझे रेडियो पब्लिसिस्ट के रूप में साउथ की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शहर मद्रास में खींच लाई ये खींचना हुआ था मेरे दो भाई समान दोस्त गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार रवि की बदौलत वाह साहब क्या शान थी वहाँ की जर्मनी स्टूडियोज की वहाँ फिल्मों का हर काम बड़े इंतजाम बड़ी तैयारी बड़ी एफिशिएंसी के साथ होता था हर चीज ठीक टाइम पर होती थी बिल्कुल कोई लेट नहीं आता था बड़ी सी बड़ी हीरोइन भी अगर टाल मटोल करती ना तो जर्मनी के ऑफिसर उसके पीछे लग जाते कि अम्मा शूटिंग इज वेटिंग अम्मा कम क्विकली क्विकली इमीडिएटली अम्मा <laughs> वो लोग हीरोइनों को अम्मा तो बड़े अदब और बड़े आदर से कहते थे मगर वहां नई नई आई हुई हीरोइन जो थी ना वो वो जरा कुछ बुरा भी मान जाती कि हाँ मुझे अम्मा कह रहा है क्या मैं बुढ़िया लगती हूँ <laughs> भाई वाकई बहुत मजा आता था मुझे मद्रास यानी चेन्नई में मगर वैसे बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री का माहौल भी उन दिनों कुछ कम मजेदार कुछ कम रंगीन नहीं हुआ करता था सर ये मौसम रंगीन समान खैर जरा ओ जाने जा तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना ये मौसम रंगीन समाज पैर जरा ओ जाने जा तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना तो मैं जाऊँ जाने जा मुझको है इनकार कहाँ तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना 1961 का एक बड़ा ही जबरदस्त छावा लगी उस फिल्म का था जिसके जरिए फिल्मी दुनिया के सबसे बहुरंगी हीरो और सिंगर पहली बार म्यूजिक डायरेक्टर बने जहाँ बल्कि उस फिल्म में एक गीत उन्होंने लिखा भी याद है कौन सा मैं वो झुम झुम झुम झुम झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला मैं हूँ झुमझुम झुमझुम झुमरू पकड़ घूम बन के घूमू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला मेरा हर इंसान दिल वालों पे हूँ कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए उड़े उड़े उड़े उड़े उड़े उड़े उड़े उड़े मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला वैसे जमरूओं के बाकी गीतों के शायर थे मजरू सुल्तानपुरी और उन गीतों में से एक तो किशोर कुमार के ऑल टाइम ग्रेट गीतों में गिना जाता है जो आप अगले वॉल्यूम में सुनेंगे मगर वैसे भी दिन भर काम में लगे रहने वाले इस बेचारे अमीन सायानी का काम अब आधी पौनी रातों तक भी फैलने लगा साहब और एकदम धमाकेदार परेड हो गई मेरी और जाहिर है बहनों भाइयों मेरी बीवी को बहुत बुरा लगने लगा कि ये भी कैसी जिंदगी है भाई तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है और घर वाले कुछ भी नहीं है बहनों भाइयों आज वो इस दुनिया में नहीं है अगर होती ना तो जरूर कहती कि ओहो तुम नहीं मानोगे अपनी बातें सबको क्यों बता रहे हो लागी मनी की कहे हाय अकेली मोरी बैठा मरे की कहे हाय आके अकेले मोरी आपका मजा बदलते रहने के लिए पहले चार हिट गीतों की झलकें बजा दी और फिर चार छाव वाले पूरे पूरे गीत बजा दिए तो अब जरा फिर से बैरो रही पकड़िए स्पीड और फटाफट सुनिए चार और झलकें जो शुरू होती हैं 1961 की पायदान नंबर 28 से कि बाकी गीत तो गीत माला के 1960 के 1960 के सालाना प्रोग्राम में बच चुके थे बस ये एक गीत सन इकसठ में आ गया वैसे 1961 में भी नौशाद साहब और दिलीप कुमार की दो और हिट फिल्में थी कोहे नूर और गंगा जमुना के गीत तो उस साल नंबर 27 पर था और नंबर 26 के गीत की फिल्म का नाम गीत खुद बताएगा जिया कुछ बोल दो अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है तुम एक हसीन हो लाखों में भला पाके तुम्हें कोई खोता है जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो और साहब उस्ताद नंबर 25 पर चले जाने के लिए आए थे जबक भी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना तेरी दुनिया से दूर अच्छा बहनों भाइयों अब फिर शुरू होते हैं 1961 के कुछ और खूबसूरत छाव वाले गीत मगर वही पहले सुनिए फिल्म संगीत की दुनिया की एक बहुत ही हैरत अंगेज घटना जी हाँ दो महान बिछड़े हुए संगीत साथियों के पुनर्मिलन के पहले कदम का हाल है ये दो बड़े सुरीले साथी दादा सचिन देव बर्मन और हम सब की प्यारी दीदी लता मंगेशकर दोनों के बीच एक अनबन सी हो गई थी उन्नीस में जो आखिर जाकर सुलझी उन्नीस में ये उलझन क्या थी ये भी बहनो भाइयों लता जी खुद आपको बताएंगी हमारे एक अगले वॉल्यूम में लेकिन आपको पता है अनबन के उन छह सात वर्षों में लता ने कोई भी गाना बर्मन दादा के लिए नहीं गाया मगर 1960 से कुछ पहले दोनों को फिर मिलाने का एक पहला जबरदस्त कदम आप जानते हैं कैसे उठा बताइए लता जी सुलह करवाई इस बात ने कि पंचम बड़ा हो गया पंचम यानी राहुल देव बर्मन हाँ तो वो बड़ा हो गया और उसको म्यूजिक डायरेक्शन के लिए पहली फिल्म मिली छोटे नवाब जी। उसके लिए पंचम ने शास्त्रीय आधार पर एक धुन बनाई और दादा को वो धुन गाकर सुनाई धुन सुनते ही दादा ने मुझे फोन किया और बोले देख लोता हमारा पंचम म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला है तू उसका एक गाना गाएगा जरूर गा हम तेरे को बोलता है बस उस टेलीफोन ने बसों की दूरी को पल भर में खत्म कर दिया और मैंने पंचम का वो गाना गाया Okay और भाई उस फिल्म छोटे नवाब से और डी बर्मन भी हिट हो गए और पंचम और महमूद से मेरी दोस्ती भी फिट हो गई क्योंकि उसी फिल्म से लेकर महमूद की प्रोड्यूस की हुई तमाम फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी मैंने ही की थी और भाई हर फिल्म के रेडियो प्रोग्रामों के लिए वो खुद यानी महमूद खुद मेरे स्टूडियो में आकर धूम मचाते रहे अमीन भाई हाँ। अमीन भाई हम हमारा माँ बाप के लिए एक बहुत अच्छा बच्चा था अच्छा हाँ बहुत अच्छा बच्चा हम्म। मेरे तरफ से मेरा माँ बाप को बहुत फायदा होता था अच्छा अच्छा वो कैसे हमारा घर में एक बार एक मेहमान आया तो दूसरी बार नहीं आता था <laughs> अच्छा वो क्यों महमूद भाई मेरे को चोरी करने का आदत था अमीन भाई अरे बाप रे कोई भी रिश्तेदार है चाहे मेरा माँ का रिश्तेदार हो मेरा बाप का रिश्तेदार हो या दोस्त है या कोई भी आता था घर में हाँ। वो बेचारा रात को सोता था हम उठ के जाता उसके पॉकेट मार देता अरे बाप मैं जरा देख लू मेरा पॉकेट तो ठीक आपका पॉकेट ये अभी देखो मैं बड़ा हो गया अभी आजकल पॉकेट नहीं मारता जी बचपन का बात करता <laughs> अच्छा अच्छा तो एक बार उसका पॉकेट मारा तो दूसरी बार वो मेहमान वापस घर में आके रहता नहीं था <laughs> इसलिए मेरे तरफ से मेरे माँ बाप को बहुत फायदा था <laughs> बहुत अच्छा भाई अब महमूद के बाद दो टॉप के प्लेबैक सिंगर्स की राय सुनिए किसके बारे में किसके बारे अजी अपनी यही गीत माला के बारे में और गीत माला की छाव के बारे में भी जब से तुमने देखा है आंखों में तुम्हें तुम हो जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम्हें तुम हो दिन और मन्ना डे की कलाओं का एक बहुत ही अमर लाजवाब बेमिसाल संगम भी तो था मेरे प्यारे वतन मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आलू मजेदार फ्लैशबैक उस साल के एक धूम धड़ाकेदार स्टेज शो का जिसे मैं कॉम्पेयर कर रहा था और जिसमें गेस्ट की हैसियत से तशरीफ लाए थे वो मजेदार मर्दाना हीरो जिनकी एंट्री फिल्मी दुनिया में 1961 से जरा पहले रिलीज होने वाली फिल्म के जरिए हुई थी ये थे ही मैन धर्मेंद्र तो साहब धर्मेंद्र जी अपने स्टाइल से झूमते झामते स्टेज पर आए और बोले अजी जी मैं तो कुछ भी नहीं था और इतना कड़का था कि अक्सर पैदल चलकर मुझे स्टूडियोज के चक्कर लगाने पड़ते थे काम ढूंढने के लिए वो तो भला हो डायरेक्टर रमेश सैगल का कि उन्होंने अपनी फिल्म शोला और शबनम में मुझे सड़क से उठाकर हीरो बना दिया <laughs> मुझे शरारत सूझी और मैंने कहा धर्मेंद्र जी आहा हा हा कितनी शुभ सड़क थी वो जरा उस सड़क का नाम तो बताइए हाँ, तो धर्मेंद्र पहले तो बौखलाए फिर हंसे और फिर हमेशा के लिए मेरे दोस्त बन गए खैर साहब वो किस्सा छोड़िए और याद कीजिए कि फिल्म शोला और शबनम में एक नई हीरोइन ने किस नई गायिका की आवाज के सहारे धर्मेंद्र से नयन लड़ाए थे लड़ी लड़ी लड़ी जालमा ओ जालमा नैनो वाली चोर से लड़ी रे लड़ी तुझसे आंख तो लड़ी बड़ी मुश्किल पड़ी जरा सुन बालमा मैं तो कब से खड़ी ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ जमाने की वो कुछ कुछ नहीं बड़ी सुरीली गायिका थी जगजीत कौर जिन्होंने आगे चलकर भी कई लाजवाब गीत गाए और फिर उनकी शादी भी हो गई अपने बड़े मशहूर बड़े शानदार बड़े टैलेंटेड संगीतकार खयाम साहब से